कठोपनिषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर नौ भाग दो दृष्टा शोक नहीं करता हमारी दृष्टि लग जाती जब फूल में सुगंध आती तो हमारा ध्यान फूल पे जाता है हमारा ध्यान उस पर नहीं जाता जिसको सुगंध आ रही तीन चीजें फूल खिला सुगंध फैली आप पास में बैठे हैं या खड़े सुगंध आई यहां तीन है एक तो फूल है एक आप है और दोनों के बीच में तैरती हुई सुगंध है एक गे है एक ज्ञाता है और एक ज्ञान है हर जगह त्रिवेणी हर जगह ये तीन मौजूद है लेकिन हमारा ध्यान हमेशा गे पर जाता है ऑब्जेक्ट पर वो जो जाना गया फूल पर नजर जाती है हम कहते हैं कैसा सुंदर फूल हम ये नहीं कहते कि कैसी सुंदर आत्मा कि फूल की गंध ले सकी कैसा सुंदर फूल कभी ख्याल नहीं आता कि कैसा सुंदर चैतन्य वो भीतर जो छिपा है उसका मैं स्मरण ही नहीं आता न तो सुगंध उतनी कीमती है न फूल उतना कीमती है जितना वो कीमती है जिसके आधार पर ये सब घट रहा है इस जीवन में जो भी हो रहा है उस सब के पीछे छिपी हुई चेतना है यम कह रहा है ये जो भीतर छिपी चेतना है जो सभी सुखों का अनुभव करता है ये जो अनुभोक्ता है और जो ये भी अनुभव करता है कि यहां कुछ भी अनुभव करने योग्य नहीं जो ये भी अनुभव कर लेता है कि सब व्यर्थ है जो ये भी अनुभव कर लेता है कि यहां पाने योग कुछ भी शेष नहीं रहा है यहां कुछ पाया भी नहीं जा सकता है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था तो परमात्मा की पहली व्याख्या यम कर रहा है और वो ये कि तुम्हारे भीतर छिपा हुआ जो चैतन्य है वो जो कॉन्सियसनेस है वो जो बोध की शक्ति है वो जो तुम्हारे जीवन का मूल है यही है वह परमात्मा जिसके लिए तूने पूछा था तो ईश्वर की पहली व्याख्या हुई भीतर का दृष्टा स्वप्न के दृश्यों को और जागृत अवस्था के दृश्यों को इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को मनुष्य जिससे बार बार देखता है उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता यह थोड़ा समझने जैसा कीमती सूत्र है यम कह रहा है कि स्वप्न के अनुभवों को जागृति के अनुभवों को जिसके द्वारा मनुष्य बार बार देखता है एक बहुत मजे की बात है शायद आपने कभी निरीक्षण न की हो चूक गए हो चूकने जैसी नहीं क्योंकि उसके आधार पर जीवन में बहुत कुछ नए आयाम खुल सकते हैं रात आप स्वप्न देखते हैं जब आप स्वप्न देखते हैं तो स्वप्न बिल्कुल सत्य मालूम होता है स्वप्न में ही यह जानना कि यह असत्य बिल्कुल असंभव है स्वप्न जब तक चलता है पूर्णतया सत्य होता है असंगत से असंगत स्वप्न भी पूर्णतया सत्य होता है आप चाहे भीख मांगते हो सड़क के किनारे लेकिन स्वप्न में अगर सम्राट हो जाए तो आपको जरा भी संदेह नहीं आता कि ये मैं कैसा देख रहा हूं मैं तो भिकमंगा हूं भिकमंगा भी स्वप्न में सम्राट हो जाए तो बिल्कुल भरोसा करता है स्वप्न में सभी श्रद्धालु होते हैं स्वप्न में मैंने अब तक एक आदमी नास्तिक नहीं देखा जो संदेह करे मानना ही पड़ता है स्वप्न को कि वो ठीक है और ऐसा नहीं कि भिकारी ही मानता है कि मैं सम्राट सम्राट भी भिकारी का सपना देखे तो मानता है कि मैं भिकारी और स्वप्न में कुछ भी संगत असंगत घटे आप में तर्क उठता ही नहीं कुछ भी घटे कैसी भी घटना हो मन बिल्कुल भरोसे से भरा होता सभी स्वप्न स्वप्न के भीतर सत्य होते स्वप्न के बाहर जब आप जागते हैं तब असत्य हो जाते जैसे आप जागते हैं और पाते हैं कि अपने कमरे में सोया हुआ हूं कि अपने झाड़ के नीचे बैठा हुआ हूं वो सम्राट वो भिखारी वो सब स्वप्न का जाल एकदम टूट जाता आप कहते हैं सब झूठा था लेकिन एक और दूसरे मजे की बात जब आप स्वप्न में जाएंगे रात तो आपने जागरण में जो देखा था वो सब झूठा हो जाता और ज्यादा झूठा हो जाता है क्योंकि स्वप्न तो थोड़ा बहुत याद भी रहता है जागकर लेकिन स्वप्न में जागा अनुभव बिल्कुल याद नहीं रहता थोड़ा बहुत स्वप्न तो याद रह जाता जब आप सुबह जागते लेकिन जब आप रात सोते हैं तब थोड़ा बहुत जागृति का अनुभव शेष रहता है बिल्कुल नहीं रहता इसलिए भारतीय मनस्विदों ने तो कहा है कि स्वप्न जागृत से भी ज्यादा गहरा अनुभव है क्योंकि जागृति स्वप्न को पूरी तरह नहीं पहुंच पाती सुबह कुछ ना कुछ याद रह जाता लेकिन स्वप्न पूरी तरह आपके जागृति को पहुंच डालता है कुछ भी याद नहीं रहता रंच मात्र भी याद नहीं रहता निश्चित ही स्वप्न की धारा बड़ी प्रगाढ़ है स्वप्न में जागरण असत्य हो जाता है जागरण में स्वप्न असत्य हो जाता है फिर सत्य क्या है चौंग तसे की बड़ी प्रसिद्ध घटना है उसने एक रात स्वप्न देखा और सुबह उदास होकर बैठ गया उसके शिष्यों ने पूछा तुम उदास क्या हुआ उसने कहा कि रात मैंने स्वप्न देखा कि मैं एक तितली हो गया शिष्यों ने कहा छोड़ो भी सपनों से किसी को उदास होने की जरूरत अब तो जाग गए उसने कहा नहीं बड़ी अड़चन खड़ी हो गई अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा रात अगर चौंग से तितली हो सकता है सपने में तो अब ये हो सकता है कि तितली सपना देख रही हो सो गई हो और सोचती हो चौंग से हो गई तो अब मैं क्या करूं अगर चौंग से सपना देख सकता है कि तितली हो गया तो तितली क्यों सपना नहीं देख सकती कि चौंग से हो गई तो अब मैं कौन हूं जागा हुआ चौंग से या सोई हुई तितली सपना चल रहा है कि जो चल रहा है वो सच है स्वप्न असत्य कर देते हैं जागरण को जागरण असत्य कर देता है स्वप्न को सत्य क्या है सत्य दोनों में से कोई भी नहीं सत्य तो सिर्फ देखने वाला है जिसको दोनों ही असत्य नहीं कर पाते रात भी एक चीज मौजूद रहती देखने वाला सपने देखता है और दिन भी वो चीज मौजूद रहती देखने वाला जागृत के अनुभव देखता है सपने बदल जाते हैं जागरण बदल जाता है लेकिन देखने वाला अपरिवर्तित रूप से सतत मौजूद रहता वो दृष्टा ही केवल सत्य जो देखा जाता है वो तो सब असत्य हो जाता है जो देखने वाला है वही केवल सत्य रह जाता है स्मरण रखें असत्य देखने के लिए भी सत्य देखने वाला चाहिए झूठ स्वप्न को भी देखने के लिए एक सच्चा देखने वाला चाहिए अगर देखने वाला भीतर ना हो तो असत्य भी नहीं देखा जा सकता दूसरा सूत्र यम कह रहा है स्वप्न के दृश्यों को और जागृत के दृश्यों को इन दोनों अवस्थाओं के दृश्यों को मनुष्य जिससे बार बार देखता है उस सर्वश्रेष्ठ सर्वव्यापी सबके आत्मा को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोक नहीं करता जो उसको पकड़ लेता है जो देखने वाला है फिर वो शोक नहीं करता चीन में एक बहुत प्रसिद्ध कथा है कि एक सम्राट का पुत्र बीमार है एक ही पुत्र मरने के करीब सम्राट रात भर जागता रहा सेवा करता रहा चार बजे के करीब उसकी नींद लग गई सोचा था रात भर जागता रहेगा क्योंकि बेटा कभी भी मर सकता है और अंतिम क्षण में बाप साथ होना चाहता था लेकिन झपकी लग गई झपकी में उसने एक स्वप्न देखा कि वो सारे जगत का सम्राट है उसके बारह पुत्र हर पुत्र का एक स्वर्ण महल है अपरंपार संपत्ति जब वो ये स्वप्न देख रहा था तभी उसका बेटा मर गया पत्नी छाती पीट के रोई तो उसकी नींद टूट गई नींद टूट गई तो बजाय रोने के वो खिलखिला के हंसने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो शोक में हंस क्यों रहे हो उसने कहा मैं हंस इसलिए रहा हूं कि किसके लिए रो अभी अभी मेरे बारह पुत्र थे ऐसे सुंदर जैसे मैंने कभी देखे नहीं इतना विराट साम्राज्य था अनंत खजाने थे सब खो गए और जब मैं उन बारह पुत्रों के साथ था तब इस पुत्र का मुझे स्मरण भी नहीं था कि ये है भी मरने जीने की तो बात अलग अब बारह पुत्र मर गए खो गए और ये पुत्र मर गया अब मैं सोच में पड़ा हूं कि किसके लिए रो कौन सच न तो रात सपने में देखे गए बारह पुत्र सत्य और न दिन के सपने में देखे गए पुत्र सत्य सत्य तो सिर्फ देखने वाला है जो इस देखने वाले को पकड़ने लगता है उसने सिद्ध होने का पहला कदम उठा लिया फिर उसे कोई शोक कोई दुख नहीं पकड़ता क्योंकि दुख पकड़ता है बाहर की चीजों को पकड़ने के कारण जो भीतर के दृष्टा को पकड़ लेता है उसे फिर कोई दुख का कारण नहीं है आनंद उसकी सहज अवस्था हो जाती जो मनुष्य कर्म फलदाता सबको जीवन प्रदान करने वाले तथा भूत वर्तमान और भविष्य का शासन करने वाले इस परमात्मा को अपने लिए समीप जानता है उसके बाद वह कभी किसी की निंदा नहीं करता यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था अगर आपको दृष्टा का अनुभव होने लगे दर्शन से आंख हटे दृश्य से आंख हटे और पीछे छिपे दृष्टा से थोड़ा सा भी तालमेल बैठने लगे तो परमात्मा को आप पाएंगे कि उससे ज्यादा समीप और कोई भी नहीं अभी उससे ज्यादा दूर और कोई भी नहीं अभी परमात्मा सिर्फ कोरा शब्द है और जब भी हम सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश में कहीं बहुत दूर परमात्मा बैठा होगा किसी सिंहासन पर यात्रा लंबी मालूम पड़ती और परमात्मा यहां बैठा है ठीक सांसों के पीछे मोहम्मद ने कहा है कि तुम्हारी गले की नस जो काट दी जाए तो तुम मर जाओ वो जितने तुम्हारे पास है परमात्मा उससे भी ज्यादा पास है पास से भी पास क्योंकि तुम स्वयं वही हो लेकिन यह ख्याल तभी आएगा जब दृष्टा पर ध्यान जाने लगे तो परमात्मा एकदम निकट और जिसको परमात्मा इतना निकट मालूम होगा अपने भीतर ध्यान रहे उसे सबके भीतर भी मालूम होने लगे ये एक नियम है जीवन का अनिवार्य कि जो आपको अपने भीतर दिखाई पड़ता है वही आपको दूसरों के भीतर दिखाई पड़ना शुरू हो जाता है अगर आप चोर हैं तो आपको चारों तरफ चोर दिखाई पड़ते हैं लगता है सब साजिश कर रहे हैं अगर आप बेईमान हैं तो आपको कोई ईमानदार नहीं दिखाई पाता लगता है कि सब बेईमान सब बने ठने बैठे जल्दी धोखा देंगे मैंने सुना है कि दो युवक एक रास्ते से गुजर रहे थे दोनों जेब कट थे दोनों सांस जा रहे थे मित्र थे एक युवक बार बार अपने खीसे में हाथ डाल के कुछ टटोलता है दूसरा बार बार अपने खीसे से घड़ी निकाल के समय देखता है पहले युवक ने पूछा कि इतना बार बार समय क्यों देख रहे हो उस दूसरे ने कहा कि तुम बार बार खीसे में क्या टटोलते मैं भी जेब कट हूं घड़ी को बार बार देखना पड़ रहा है कि अभी है कि गई तुम क्या टटोल रहे हो कहा कि जेब कट तो मैं भी हूं खीसे में नोट रखे वो बार बार टटोलने पड़ रहे हैं कि गए कि बचे हम दूसरे के संबंध में जो भी धारणा हमारी होती वो बहुत गहरे में अपनी ही धारणा होती अगर आप चोरों से बहुत सचेत रहते हैं तो समझना कि चोर भीतर छिपा है अन्यथा इतने सचेत आप ना रहेंगे क्या कारण है सचेत रहने का इतना जो हमारे भीतर है वही हमारी धारणा है मनुष्यों के बाबत इसलिए बुरा आदमी कभी नहीं मान पाता कि कोई अच्छा आदमी हो सकता है बुरा आदमी मानता है कि अच्छा दिखाई पड़ता होगा ढोंग रच रहा होगा अच्छा हो नहीं सकता इसलिए बुरा आदमी हमेशा कोशिश में रहता है अगर आप उससे कहें कि फला आदमी अच्छा है तो अविश्वास से सिर हिलाएगा वो कहेगा कि ठहरो थोड़े दिन में समझोगे ज्यादा देर तक चीजें छिपी नहीं रहती पता चली जाएगा और वो पूरी कोशिश करेगा पता लगाने की कि आदमी बुरा होना चाहिए बुरा होना तो पक्का भरोसा है अच्छा होना तो आवरण ही हो सकता है सिर्फ अच्छा आदमी ही भरोसा करता है कि दूसरा अच्छा हो सकता है अच्छा आदमी मुश्किल पाता है कि कोई बुरा कैसे हो सकता है क्यों होगा और ध्यान रहे अगर आपको दूसरे के बुरे होने पर तत्काल भरोसा आ जाता हो तो भूल के मत समझना कि आप अच्छे आदमी तो वो कसौटी है अच्छे आदमी को तो बड़ा मुश्किल है ये भरोसा लाना कि दूसरा बुरा है बुरा हो तो भी ठीक वैसे ही जैसे बुरे आदमी को भरोसा लाना मुश्किल है कि दूसरा अच्छा अच्छा हो तो भी हम सोच ही नहीं सकते अपने से बाहर इसलिए जिस व्यक्ति को दृष्टा का अनुभव होने लगता है उसे सबके भीतर भी दृष्टा का अनुभव होने लगता है वह आपके शरीर को नहीं देखता आपके भीतर की झलक उसे मिलने लगती उसे सब तरफ परमात्मा मौजूद मालूम होता है इसलिए निंदा असंभव हो जाती निंदा असंभव तभी हो सकती जब दूसरे में हमें परमात्मा दिखाई पड़ने लगे तब तो स्तुति हो सकती निंदा होने का कोई कारण नहीं रह जाता हमें सब तरफ शैतान दिखाई पड़ता है इसलिए निंदा चलती शैतान को शैतान दिखाई पड़ता है परमात्मा को परमात्मा दिखाई पड़ता है आप जो है वही आपके जगत का अनुभव है उसी का फैलाव उसी दिन समझना कि आपके भीतर संतत्व का उदय हुआ जिस दिन आपको शैतान दिखाई पड़ना मुश्किल हो जाए राबिया एक सूफी फकीर औरत हुई कुरान में एक जगह वचन आता है कि शैतान को घृणा करो उसने कुरान में यह वचन काट दिया ये बड़ी असभ्यता की बात है अशिष्ट कुरान में कोई सुधार नहीं किया जा सकता कि गीता या वेद में कि आप बैठे और सुधार कर दें एक फकीर जुन्नैद राबिया के घर मेहमान था उसने सुबह सुबह राबिया की कुरान उठा के पढ़ी तो देखा कि उसने सुधार किया हुआ उसने काट दी है लाइन जुन्नैद ने कहा कि किस ना समझ ने ये पाप कृत्य किया है कुरान को कोई सुधार सकता है राबिया ने कहा किसी और ने नहीं मैंने ही वो लकीर काटी पर जुन्नैद ने कहा कि तूने ऐसी नास्तिकता का काम किया राबिया ने कहा मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूं जब से प्रभु का अनुभव होना शुरू हुआ मुझे शैतान दिखाई नहीं पड़ता तो घृणा में किसको करूं तो ये वचन मेरे योग्य नहीं ये वचन मेरे मुझसे तालमेल नहीं खाता शैतान कहां है अब तो शैतान भी मेरे सामने आके खड़ा हो तो मुझे परमात्मा ही दिखाई पड़ेगा इसलिए घृणा करने का कोई उपाय नहीं इसलिए लकीर मैंने काट दी जिससे मेरा कोई तालमेल नहीं है अब वो मेरी कुरान में वो लकीर नहीं रह सकती ये सूत्र कह रहा है कि जैसे ही किसी व्यक्ति को अनुभव होता है कि वो समीप समीपतम उसके बाद वह किसी की निंदा नहीं करता स्तुति सहज हो जाती उसे सबके भीतर उसकी झलक दिखाई पड़ने लगती सब दियों में उसी की रोशनी यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था जो जल आदि पांच तत्वों से पहले ही अजन्मा था उस सबसे पहले तप से उत्पन्न हृदय गुहा में प्रवेश करके जीवात्माओं के साथ स्थित रहने वाले परमेश्वर को जो पुरुष देखता है वही ठीक देखता है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था कौन देखता है ठीक किसकी दृष्टि ठीक है और दृष्टि ही ठीक ना हो तो परमात्मा का दर्शन असंभव है कौन देखता है ठीक वही देखता है ठीक जो हृदय की गुफा में छिपे हुए उसको पहचान लेता है जो अजन्मा है हृदय का तो जन्म हुआ है गुहा तो बनी मिट जाएगी शरीर तो निर्मित बिखर जाएगा जन्मा है मृत्यु होगी इस शरीर के गुफा में छिपा हुआ अजन्मा कोई है जिसका कोई जन्म नहीं हुआ और जो कभी मिटेगा नहीं उसे जो देखता है वही देखता है बस उसके पास ही आंख है बाकी सब अंधे भीतर की दृष्टि से बाकी सब अंधे बाहर कितना ही दिखाई पड़ता हो जो स्वयं को ही नहीं देख पाते उनकी आंखों का होना न होना बराबर उपनिषद कह रहा है वही ठीक देखता है जो अजन्मा को हृदय की गुफा में पहचान लेता है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था जो देवी अदिति प्राणों के सहित उत्पन्न होती है जो प्राणियों के सहित उत्पन्न हुई है तथा जो हृदय रूपी गुहा में प्रवेश करके वहीं रहने वाली है उसे जो पुरुष देखता है वही यथार्थ देखता है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था प्राण की ऊर्जा का नाम अदिति है जीवन ऊर्जा का नाम अदिति है ये जो भीतर जीवन की धारा बह रही है इस धारा को जो पहचान लेता है हम शरीर को पहचानते शरीर नदी नहीं है सिर्फ नदी का किनारा है शरीर के दो किनारों के बीच नदी बह रही किनारे तो हमें दिखाई पड़ते हैं नदी नहीं दिखाई पड़ती नदी सरस्वती जैसी है अदृश्य किनारे भर दिखाई पड़ते हैं सूखा बीच का मार्ग दिखाई पड़ता है नदी दिखाई नहीं पड़ती शरीर किनारा है उसके सहारे कुछ और बह रहा है जो दिखाई नहीं पड़ता प्रतिपल आपके रोए रोए में ऊर्जा बह रही है ऊर्जा तो कहीं भी दिखाई नहीं पड़ती ये बिजली के बल्ब जल रहे हैं ये बल्ब दिखाई पड़ते लेकिन तारों के भीतर से बहती हुई ऊर्जा दिखाई नहीं पड़ती आज तक बिजली को किसी ने देखा नहीं सिर्फ बिजली का उपयोग देखा है आज तक कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो सकी सिर्फ शक्ति के अभिव्यक्तियां प्रकट होती ये बिजली बल्ब जल रहा है पंखा चल रहा है ये सिर्फ उपयोग है लेकिन बिजली क्या है उसे आज तक किसी ने नहीं देखा कोई कभी देखेगा भी नहीं शक्ति का कोई दर्शन नहीं हो सकता शक्ति अरूप निराकार है आप चलते हैं उठते हैं बैठते हैं बोलते हैं ये दिखाई पड़ता है लेकिन कौन चलता कौन बैठता कौन बोलता कौन चुप होता वो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता वो प्राण ऊर्जा उसका नाम अदिति है उस प्राण ऊर्जा को जो अपने भीतर देख लेता है वही देखता है वही यथार्थ देखता है यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा जो सर्वज्ञ अग्नि देवता गर्भिणी स्त्रियों द्वारा भली भांति धारण किए हुए गर्भ की भांति दो अरणियों में सुरक्षित है छिपा है तथा जो जागृत है और हवन करने योग्य सामग्रियों से युक्त मनुष्यों द्वारा प्रतिदिन स्तुति करने योग्य है वही है वह परमात्मा जिसके विषय में तुमने पूछा था पुराने जमाने में जब आग को पैदा करने के और कोई उपाय न थे तो दो लकड़ियों को रगड़ के आग पैदा की जाती थी वो जिस लकड़ी को रगड़ के आंख पैदा करते थे उसका नाम अरणी रगड़ने से जो छिपी आंख थी वो प्रकट हो जाती छिपी तो पहले ही थी दोनों लकड़ियों में छिपी थी चकमक का पत्थर आपने देखा उसमें छिपी रगड़ते पैदा हो जाती रगड़ से कोई चीज पैदा नहीं होती केवल प्रकट हो सकती जो छिपी हो वो प्रकट हो सकती आपके भीतर भी परमात्मा छिपा है थोड़े से रगड़ने की बात है थोड़े से साधना की थोड़े से तप की बात है थोड़े से प्रयास की बात जो छिपा है वो प्रकट हो जाएगा धू धू करके उसकी लपट जलने लगेगी लेकिन कोई आदमी दो अरणियों को रखे बैठा रहे सर्द रात हो बर्फ पड़ती हो कपता हो और दो लकड़ियों को रखे बैठा रहे तो कुछ होगा नहीं छिपी हुई आंख से कोई गर्मी नहीं मिलती छिपी हुई आंख से रोशनी भी नहीं मिलती और आंख छिपी है और सामने रखी जरा सा दो लकड़ियों को रगड़ने की बात है कि प्रकट हो जाएगी अंधेरा टूट जाएगा सर्दी टूट जाएगी अग्नि देवता प्रकट हो सकता है अग्नि की पूजा बड़ी प्राचीन और अग्नि की पूजा का मौलिक कारण यही था कि जैसे अग्नि छिपी होती पदार्थों में और प्रकट करनी पड़ती वैसे ही परमात्मा भी छिपा है और प्रकट करना पड़ता है और भी एक कारण से अग्नि निरंतर पूज्य रही अग्नि की एक खूबी है कि वो सदा ऊपर की तरफ जाती है उसकी गति सदा ऊपर की तरफ है अगर आप दिए को उल्टा भी कर दें तो भी लौ ऊपर की तरफ जाएगी दिया उल्टा हो जाएगा लौ उल्टी नहीं कर सकते आप पानी नीचे की तरफ बहता है आग ऊपर की तरफ बहती आग का सहारा अगर पानी भी ले ले तो पानी तक ऊपर की तरफ बहने लगता है गर्म हो जाए उबल जाए भाप बन जाए यात्रा बदल जाती पानी का गुणधर्म बदल जाता है वो जो नीचे की तरफ बहता था वो भी आकाश की तरफ उठने लगता है इस जगत में पुराने दिनों में आदमी को अनुभव हुआ कि आग के अतिरिक्त किसी चीज में ऊपर की तरफ जाने की क्षमता नहीं आग ग्रेविटेशन के विपरीत है जमीन खींचती है आग को नहीं खींच पाती आग लेविटेशन को मानती है आग ऊपर की तरफ जाती है जमीन उस पर कुछ भी नहीं कर पाती जो चेतना ऊपर की तरफ जाने लगती है वो आग उसका प्रतीक बन गई और परमात्मा निरंतर ऊपर की तरफ जाती हुई चेतना का नाम है ये आग सबके भीतर छिपी है साधन पूरे के पूरे आपके पास है थोड़ी सी रगड़ की जरूरत है उस रगड़ का नाम साधना है थोड़ा सा हिलना डुलना पड़ेगा थोड़ा भीतर छिपी हुई अरणियों को टकराना पड़ेगा ये मैं जितने ध्यान के प्रयोग आपको कह रहा हूं ये वस्तुतः अरणियों का टकराना है मुझसे लोग आके पूछते हैं कि ऐसा चुपचाप ही बैठ के करें तो क्या हर्ज है वही पूछ रहे हैं अरणियों को ऐसे रखा रहने दे चुपचाप तो आग पैदा नहीं होगी नहीं होगी रगड़ना ही पड़ेगा आपके भीतर की ऊर्जा को थोड़ा संघर्षण से गुजरना पड़ेगा ऐसे ही होने वाली बात होती तो हो गई होती वो नहीं हुई है उस आंख को जगाने के लिए थोड़ा सा श्रम जरूरी जहां से सूर्य का उदय होता जहां सूर्य अस्त होता है सभी देवता उसी में समर्पित है जहां सूर्य पैदा होता है जहां सूर्य समाप्त होता है जहां से जीवन का प्रारंभ है और जहां जीवन विसर्जित होता है उस मूल उद्गम या उस अंतिम पड़ाव में ही जहां सभी देवता समर्पित हैं उस परमेश्वर को कोई कभी लांग नहीं सकता वो सबका मूल उद्गम और सबका अंतिम अंत है उसके पार जाने का कोई उपाय नहीं परमात्मा का कोई अतिक्रमण नहीं हो सकता क्योंकि सभी चीजों का अतिक्रमण करके जो उपलब्ध होता है वो परमात्मा है उसके पार जाने का कोई उपाय नहीं वो अंतिम वो आखिरी सीमा है अस्तित्व की यही है वह परमात्मा जिसके विषय में तूने पूछा था जो पर ब्रह्म यहां है ये सूत्र थोड़ा ठीक से ख्याल में ले लें जो पर ब्रह्म यहां है वही वहां परलोक में भी है जो वहां है वही यहां इस लोक में भी है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को अर्थात बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होता है जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की भांति देखता है अगर कोई कहता हो कि परमात्मा यहां नहीं परलोक में तो वो अज्ञानी है अगर कोई कहता हो कि परमात्मा यहां नहीं वहां है तो वो भ्रांति में है क्योंकि वो सब जगह है सभी जगह जो है उसी का वह नाम है सबके अस्तित्व में जो छिपा है वही यहां भी वहां भी इस पार भी उस पार भी जहां तक अस्तित्व है जहां तक होना है वहां तक वही है परलोक में परमात्मा है ऐसा नहीं इस लोक में भी वही है देखने वाली आंख चाहिए और जिसके पास देखने वाली आंख है उसे यहां ही दिखाई पड़ जाएगा और ध्यान रहे जिसे यहां दिखाई नहीं पड़ता उसे वहां भी दिखाई नहीं पड़ेगा देखने वाली आंख पर निर्भर है वो आंख पैदा हो जाए तो सब जगह वो प्रकट हो जाता है वह आंख पास में ना हो तो वो कहीं भी प्रकट नहीं होता लेकिन लोग अपने को धोखा देते रहते हैं वो कहते हैं यहां प्रकट नहीं हो रहा क्योंकि यहां नहीं है वहां परलोक में इस तरह अंधे अपना बचाव कर लेते उनको फिर ये ख्याल नहीं होता कि हम अंधे हैं इसलिए दिखाई नहीं पड़ता अंधों ने बैकुंठ स्वर्ग परलोक न मालूम क्या क्या निर्माण किए वो उनकी इस बात की कोशिश है कि हम में कोई गलती नहीं है कि वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा वो यहां है ही नहीं वो परलोक में है जब हम परलोक पहुंचेंगे तब वो दिखाई पड़ेगा इससे अंधों को बड़ी सुविधा हो जाती सांत्वना मिलती लेकिन ध्यान रहे ये सूत्र कुछ और कह रहा है ये ये कह रहा है वो यहां भी उतना ही जितना वह अगर नहीं दिखाई पड़ता तो गैर मौजूदगी कारण नहीं है नहीं दिखाई पड़ता क्योंकि आंखें पास नहीं है आंख पैदा करने की कोशिश करनी पड़े जैन फकीर रिंझाई का एक बहुत प्रसिद्ध वचन उस वचन पर सदियों तक विवाद होता रहा वो वचन बड़ा उल्टा मालूम पड़ता है रिंझाई ने कहा संसार और निर्वाण एक ही है बड़ी उल्टी बात हो गई क्योंकि हम तो कहते हैं संसार छोड़ो त्याग करो और ये रिंझाई कहता है संसार और निर्वाण एक ही है जिसने रत्ती भर भेद किया वो अज्ञानी रिंझाई ने अगर ये सूत्र पढ़ा होता उपनिषद का तो वो नाच उठता वो कहता कि बिल्कुल ठीक जो वहां है वो यहां भी है संसार और निर्वाण एक है भेद अंधों के कारण उनको यहां दिखाई नहीं पड़ता इससे वो ये नहीं सोचते कि आंखें नहीं है इससे वो सोचते हैं यहां वो मौजूद नहीं खोज की कोई जरूरत नहीं जब परलोक जाएंगे इसलिए जैसे जैसे आदमी बूढ़ा होने लगता और परलोक करीब आने लगता वैसे वैसे धार्मिक होने लगता मंदिरों में मस्जिदों में गुरुद्वारों में बूढ़े इकट्ठे जवान वहां दिखाई नहीं पड़ता और कभी कोई जवान भी दिख जाए तो समझना है कि किसी न किसी कारण से बूढ़ा हो गया कोई ना कोई गड़बड़ हो गई बूढ़े भी चौंक के देखेंगे कि जवान आदमी यहां किस लिए वो भी अपने बेटों को समझाते हैं कि धर्म अभी तुम्हारे काम का नहीं इसकी एक उम्र होती जब बूढ़े हो जाओ तब असल में मरने की घटना जब बिल्कुल करीब आने लगे जब ऐसा शक होने लगे कि अब परलोक जाना ही पड़ेगा तो आदमी धार्मिक होना शुरू होता है क्योंकि इस श्लोक में तो परमात्मा है नहीं लेकिन ये व्यवस्था धोखे की जो यहां धार्मिक नहीं है वो मौत सिर्फ मौत के कारण धार्मिक नहीं हो जाएगा और जिसको परमात्मा यहां नहीं दिखाई पड़ता मौत कोई आंखें दान नहीं देती कि परमात्मा परलोक में दिखाई पड़ जाएगा ठीक जैसे आप हैं अगर आपको परलोक में खड़ा कर दिया जाए आप वहां भी संसार ही देखेंगे जल्दी से आप वहां भी कुछ इंतजाम करना शुरू कर देंगे दुकान खोल लेंगे शादी विवाह करने लगेंगे कुछ ना कुछ आप तत्ण जो संसार आपका यहां था आप वहां बसाना शुरू कर देंगे लेकिन मुक्त पुरुष को यहां इस संसार में भी मोक्ष ही दिखाई पड़ता है कोई और कुछ और दिखाई पड़ने का उपाय नहीं जो परब्रह्म यहां है वही वहां परलोक में भी है जो वहां है वही यहां श्लोक में भी है वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को अर्थात बारंबार जन्म मरण को प्राप्त होता है जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की भांति देखता है एक की भांति नहीं इसे भी थोड़ा समझ लेना चाहिए हम इस जगत को अनेक की भांति देखते हैं वृक्ष पत्थर अलग आप अलग मैं अलग पड़ोसी अलग सब अलग सब टूटे हुए खंड खंड हमारी हालत ऐसी जिसे रात चांद निकले और जमीन पर हजारों डबरे हैं झीले हैं पानी के सरोवर हैं और सब में चांद दिखाई पड़ता है एक ही चांद होता है आकाश में लेकिन सब पानी में हजारों लाखों प्रतिबिंब बनते और हम एक एक प्रतिबिंब को गिनते फिरें और सोचें कि कितने चांद हैं और नजर ना उठाएं उस एक की तरफ जिसके सब प्रतिबिंब है इस जगत में जितना भी अस्तित्व है जितने रूप है वो एक के ही प्रतिबिंब है आप के भीतर एक सरोवर की भांति आपकी चेतना में उस एक की ही छाया बनी सूत्र कहता है जो यहां अनेक की भांति देखता है वो भटकता है जन्म मरण में जो यहां भी एक की भांति देख लेता है उसे वो तत्क्षण मुक्त हो जाता है एक को पहचान लेना परम ज्ञान है अनेक को देखते रहना अज्ञान है